गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन अब शिव जी ने सोचा तो बात बिगड़ जाएगी जा इब्बे इसको वचन पार्वती भी के याद रखेगी मांग भाई क्या मांगता है तू भस्मासुर बोला कि महाराज जी वचनबद्ध हो जाए नो ना मांगो हो गया भाई वचनबद्ध हुआ मांगो क्या मांगते हो के बसम कंडा दे अब काट के पकड़ा दिया कि वो अब बचा ले जान बचानी उतना जान तो मारूंगा क्यों मारूंगा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तन्ना खत्म करूंगा अब गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कुटिल जीव घर ऐसे कृत घनी जीव कलमाही और माता को तो पत्नी ठहराई ऐसे नीच भस्मासुर कि अपनी मां को पत्नी बनाने की खातिर बारह वर्ष तक तप कर और भाई भगवान शिव जी ने नोबिना बेरा पटाई को बद्दी के सोच रहा मन में ये सर्वशक्तिमान कितना हो गया मैं मैं ये पूछूं तेरे पे यह बात यहां पर आकर जब डंडा लग गया ना तीस तरले भाषण पे जब बुद्धि कुछ ठिकाना आने लग गया कहा साची बात तो ये यूं की यूं है ये भी शास्त्रों में कोई बाहर से नहीं बोल रहा मैं तो शिव जी आगे आगे और सुर पीछे पीछे बसमा गिरी नाम था उनका सुर तो बाद में कहा जब उसने ये जुलम कर दिया अब बाजा जावे आकाश में उड़ गया अब सिद्धि ते तब से सिद्धि दसवा स्वर में भी आ गई आकाश में उड़न की ये तो आम संत में होती है जो आकाश में उड़ सकते हैं तो उस समय भगवान शिव भागा जा रहे हैं और बसमासुर बसम कंडे को लेकर उसके पीछे भाग रहे और आगे से भगवान विष्णु जी ने पार्वती का रूप बनाकर और शिव जी के उसे भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए अब भस्मासुर तो पार्वती के का तो पाप पीट रहा था उसको बद के कारण जब पार्वती को सामने देखा भस्मासुर वहीं डट गया उसको इतनी ज्ञान था कि इस जब तक मेरे हाथ में बसम कंडा है शिव जी तो एक कोष भी सौ कोष भी ना पावे इतना डरे हुए थे भगवान विष्णु शिव जी और भाग गए थे अब ठीक है तो पार्वती कहने लगी उसने भी क्यों मारा हो तुम मैं तेरे पास आ गई और ठीक है तो इसीलिए तो आप चाह रहे थे हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है कहने लगी कितने कुछ नाचना गाना भी आवा है कुछ राय मोडा है जो बोला मन्ना ना गाना गुणानता कहनी न बोली मैं तो राजी होंगी जब तक तो मैं नाच कर दिखाओगा नाचो क्यों करे अक मैं सिखाऊं तेरे को और तू पहले डांस सीख अक अच्छी बात सिखा देता है ए बसमा वह नाच भगवान विष्णु उसमें नाचन लग गया पार्वती रूप में ये उसने बूच ने थोड़ा नाचना उसका न बोला जैसे मैं करूं ऐसे करना तूने ऐसे नहीं ऐसे कर अका से ले अब नो करके हाथ ले सिर पर ले हाथ ने सिर पर ले आई वो ले आया ऐसे विष्णु जी ने क्या नहीं उसने कर दिया और विष्णु जी ने कह दिया भसम कि वो कंडे आला हाथ सिर पा लिया जब टोक्या वो मर गया जल गया उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर विष्णु जी शिव जी के सामने प्रकट हो गए जब वो भाग्य जा रहे थे ये विष्णु शिव पुराण में लिखा है आगे जाके विष्णु जी कहने लगे भाई डट जा रुक जाओ एक बार महादेव जी महादेव जी कहते हैं आप भी भागो भगवान मेरे पीछे पीछे आ जाओ क्या हो गया हाँ। के बसमा राक्षस ने मेरे से बसम कंडा मांग लिया और उसकी नीत में आ गया फर्क मुझे मारना चाहता है वो कहने लगा मैं उसे बसम कंडा ले आया वो तुझे मारा को नहीं नहीं उस राक्षस से कौन ले सकता है बसम कंडा उसकी तो बदनीत इतनी थी मैं नहीं मानू महाराज जी भगवान आप झूठ बोलते हो अरे नहीं भले पुरुष ये बसम कंडा तो पहचान ले अकना मैं नहीं मानता इस बात ने बोला किसी तरह मानना भी कि मन मेरा यकीन ही नहीं हो रहा कि उससे तो ला कैसे सकते हो इतने में भगवान विष्णु ने <clears throat> एक लड़की का रूप बनाया आगे जाके उसका वर्णन भी ना कर सकते यहां पर जो भगवान शिव गेला बनी इस समाज में बताने जोगी भी कोई ना जो शिव शिवपुराण में लिख रखी उस लड़की का पीछा भाग लिया उसके हाथ पकड़ लिए बदनीत करके वहां पर फिर भगवान विष्णु का रूप बना लिया विष्णु जी ने फिर शर्मा आ गया अग भाई न्यो मनो कर तू पागल हो गया ना शिव जी न्यो बस मासुर पागल हो गया मेरे ऊपर मैंने रूप बनाया लड़की का पार्वती का और जिस प्रकार तेरी शुद्ध बुद्ध खोगी इसी प्रकार उस बस मासुर राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट कर दी मैंने और फिर उसको बसम किया ने बोला कांकर राख्या फिर देखा जब तसली हुई जब उसकी राख दिखा ली इतना डरा हुआ था भगवान शिव जी सर्वशक्तिमान वो सर्वशक्तिमान ने को ना मेरा पट्टा गरीबदास जी कहे कि इस राक्षस के मन में क्या है और फिर सर्वशक्तिमान के ऊपर भसम करने क्या असर करे तो भाई अब इसने सेट करा इतना और ठा ले दूसरी बात ने अब इन बातों को विचार करना पड़ेगा कोई बुराई नहीं कर रहे हम बुराई तो जब हो आम ने हम अमरूद बतावा और अमरूद को कोई आम कह हम आम कह दें अगर अमरूद है आम नहीं है तो उसको बुराई तो वो जानेगा दोनों का मेरे आम न है जिसको मालूम कोई ना फल तो है पर आम ना कहा भाई इसने अमरूद है आम नहीं है अर्थात ये भी भगवान है पर भाई पूर्ण नहीं है ये तीन लोग के अब हम आपको सृष्टि रचना सुनावे गरीबदास जी महाराज की एक आरती है अदली आरती अदल पठाऊं योगन योगन का लेखा ले जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा नहीं पानी पवन जमी असमाना कच्छ मच्छ कोरहम नहीं काया चंद सूरज नहीं दीप बनाया ये कुछ भी ना थे ना चांद थे ना सूरज शेष महेश गणेश ना बर्मा नारद सारद ना विश्वकर्मा ये सिद्ध चौरासी ना तैतीसों नौ अवतार नहीं चौबीसों पांच तत्व ना ही गुण तीना नाद बंद ना ही गटसीना ये चित्रगुप्त ना बाजी धर्म राय ना पंडित काजी भाई धो धो कार अनंत युग बीते जादिन कागज का उकन चीते जादिन फिर कहते हैं जी आप कहाँ थे फिर या कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे जादिन थे हम तख्त खवासा तनके पाजी सेवक दासा संख युगन पर लो परवाना सत पुरुष के संग रहाना दास गरीब कबीर का चेहरा हमारा सत्यलोक अमरापुर डेरा हम सतलोक में रहते थे और वहीं पर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा वहां रहते हैं ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रतीन ही भार और सतगुर पुरुष कबीर हैं ये कुल के सरदनहार अब कबीर साहब को हम सिर्फ एक जुलाहा दृष्टि से देखते हैं दृष्टिकोण से इसलिए हम उनसे वैसे ही मन नकारा कर देता है कि वो क्या का भगवान होगा तो ताणी तणिया करता क्या भगवान भाई मुकुट बांध के और तीर लेके भगवान बना कराए अगर तीरों से भगवान बनता हो और दुनिया को मार काटने से भगवान बन ही स्वीकार्य हो तो फिर तो उस भगवान ने भाई उस भगवान ने तो उड़े बैठे बटनदा बन हो सकता है तीर हो सकता है कोने वो तो एक मिनट में काम कर दे सबका तो ये जो <clears throat> इनकी कुछ और पावर है ये हथियारों वाले भगवान जो हैं ये पुलिस महकमा समझ लो एसपी लेवल के इनकी कार्य क्षेत्र है कि कोई बकवाद कराओ न गढ़ दे उनको दे रखी है ड्यूटी जो सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व सामाजिक तत्वों को दुखी करते हैं उन्हें काट के बाहर बगा दे खत्म कर दे जैसे फसल को के अंदर झाड़ झंकाड़ पैदा हो जाते हैं तो उनको निकालने की खातिर जिम्मेदार एक विशेष औजार प्रयोग करता है इसी प्रकार उनकी ड्यूटी है अब यहां पर है कि पहले कुछ भी नहीं था केवल सतपुरुष था सतलोक में सतलोक का मतलब है वो अविनाशी लोक जो कभी नष्ट ना हो जो कभी खत्म नहीं होता गीता जी में भगवान कृष्ण ने अब गीता जी भी सुनावांगे जब हो रहा है खुलेंगे आपकी कि गीता जी में कृष्ण जी नहीं बोले वो सनातन परमात्मा प्रवेश हुआ ज्योत नरंदन और उसने यह गीता जी कथी उसका प्रमाण दूंगा आपको इसी गीता जी में बाहर से नहीं दूंगा तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब लोक कलप का अंत होगा अर्जुन ये सारे जीव प्रकृति में लीन हो जाएंगे अर्थात सब खत्म होंगे ब्रह्मादि के लोक भी नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं रहेगा और ना ही स्वर्ग रहेंगे जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता फिर कहां रहेंगे जो स्वर्ग नहीं रहेगा और इनके उपासक हंस कहां रहेंगे और इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज कहते हैं महाप्रलय जब होगी पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा पहाड़ भी पानी में दब जाएंगे ग्यारह सूर्य और सौर मंडल में से आके इस पृथ्वी मंडल को फूक देंगे जल भी नष्ट पृथ्वी की राख भी बढ़ा के उठेंगे और ये वायु अंधी सी बन जाएगी इस आंधी को फिर यानी पवन में अग्नि जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व जल तत्व को अग्नि अग्नि को वायु और वायु को आकाश तत्व अपने अंदर ले लेगा आकाश को ये ज्योत निरंजन सनातन परमात्मा अपने अंदर समा लेगा ज्योत निरंजन को पार ब्रह्म भगवान अक्षर पुरुष वो अपने अंदर ले लेगा अवगत पुरुष अवगत पुरुष पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा और ये पर पर धूकार का डंका बाजेगा ये सब ब्रह्मांड फूट जाएंगे खत्म हो जाएंगे आपस में भेड़ भेड़ कर मरेंगे खत्म हो जाएंगे और फिर ये जीव महाप्रलय होगी यहाँ पर एक महाप्रलय दो टाइप की है एक महाप्रलय में निरंजन का लोक बच जाता है तो दोबारा कंस्ट्रक्शन इसी सुब्रह्मण्य की करता है और एक महाप्रलय में ये सब खत्म हो जाते हैं और एक तीसरी महाप्रलय होगी जब सब का मतलब 21 ब्रह्मंड है और तीसरी महाप्रलय जब होती है जब ये अनंत कोटि ब्रह्मंड ये सब नष्ट हो जाते हैं केवल सतलोक रह जाता है जिसमें पार ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है लेकिन ये स्थिति तो अभी बिना गणती के योग बिना गणती की सृष्टि उलट पुलट हो लेगी जब वो आती है ये जल्दी आ जाती है उस समय सतपुरुष थे सतलोक में बदल लो इसकी रचना अब आपको हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना सुना रहे हैं जो कबीर साहब के आधार पर है तो उसमें महाप्रलय था ऐसे धुंधुकार था केवल सतलोक में वो अविनाशी परमात्मा सतपुरुष रहता था उन्होंने अपने शब्द से सत्रह शब्द उच्चारण किए अपनी शक्ति थे और सत्रह शब्दों से एक शब्द से तो वहां के सभी लोक रच दिए सतलोक के दीप खेड़े वहां पर जो बनावट से वह न्यारी है यहां से और पंद्रह सोलह शब्दों से सोलह पुत्र उत्पन्न किए वहां के देवलोक वहां जो सतलोक की जो सृष्टि वहां की उसमें पहले शब्द से सभी लोग आधी रच दिए दूसरे शब्द से कूर्म नाम के पुत्र की उत्पत्ति की तीसरे से ज्ञानी चौथे से चौथे से विवेक पांचवें से तेज छठे से सैद संतोष सुरती आनंद अक्षमा निष्काम जलरंगी अचिंत प्रेम दयाल धैर्य और सत्र में से योग संतान ये इनके पुत्रों के नाम है जो सतलोक में होते रहते हैं इस प्रकार सतपुरुष ने सत्रह शब्द उच्चारे जिसमें सोलह शब्दों से सोलह पोत्र एक शब्द से शब्दीप लोक सरोवर आदि सतलोक में रच दिए सोलह पुत्रों को नारे नारे लोक देकर उनमें रहने की उनको कहा उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन और करनी थी उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को जो बारहवें नंबर का है उसको कहा कि आप सृष्टि रचो वहां के लोक रचो उसके लिए उसने अक्षर की उत्पत्ति की अक्षर ने अपनी चार अंशों की उत्पत्ति की चार अंशों की उत्पत्ति को देखकर अक्षर पुरुष घना प्रसन्न हो गया और वहां पर अमृत सरोवर में जाकर आनंदित हो गया नींद आ गई और कई काफी दिनों तक कोई भी सृष्टि नहीं रचेगी तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि अचिंत को कहा था सृष्टि रचो अचिंत ने कहा कि अक्षर पुरुष ऐसे माँ उसमें अमृत सरोवर में सो रहा है उठ नहीं रहा गहरी नींद्रा है उसको कौन जगावे मन ने करा के शराब दे दे ऐसा भी डर लग गया ऋषियों तक लेकिन सतपुरुष ने एक अंडा बनाया सबज शक्ति थे उस अंडे को जल में डाला घना बड़ा अंड था और वो गड़गड़ाहट करता हुआ जब नीचे जल में प्रवेश हुआ तो उसमें अचिंत के उसके अक्षर पुरुष की आंख खुल गई अक्सर पुरुष की जब आंख खुली तो एकदम वो जैसे कांची नींद उठाना आदमी थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी मिला हुआ है उसे उसमें उसने जब देखा वो अंडे में वो तेज क्रोध प्रवेश कर गया और वो अंडा फूट गया अंडे के फूटने में उसमें से एक तेजो में पुरुष निकला जिसका नाम ज्योत निरंजन रख दिया तेज प्रकाश था उसके रूप प्रकाश तेज में शरीर था उसका यानी उस तेज से उसका दीप्तिमान शरीर हो गया और पुरुष बनकर निकला उसको ज्योत निरंजन कहा आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तुझे जगाने के लिए हमने अंडा भेजा था और अब तुम दोनों के दोनों बाहर आओ बाहर आए और कहा कि तुम तीनों अचिंत के लोक में रहो अचिंत अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन बाकी पंद्रह पुत्रों को तो न्यारे न्यारे लोग अचिंत के लोक में ये तीन इकट्ठे हो गए अब निरंजन ने सोचा और तो सारे भाई अलग अलग रहते हैं तो हमारे को तीनों को एक में बांध दिया महाराज जी पिताजी ने मैं तो अपना न्यारा राज करूंगा तो उसने न्यारा होने की प्रवृत्ति बनाई सत्तर युग तप एक किया सत्तर युग तप एक किया चौसठ युग तप एक किया प्रथम सत्तर युग के बदले में उसने के मांगा कि मुझे न्यारा लोक दे दो सतपुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने प्रसन्न होकर 21 ब्रह्मंड का राज सत्तर युग के तप के बदले में दे दिया अगले भाई इन मतों खूब राजी वाले और ये 21 ब्रह्मंड सतलोक में ही थे ये 21 ब्रह्मंड उस सतलोक में ऐसे हैं जैसे बड़े महल में एक माचिस रखी हो इतनी जगह है उस इतना बड़ा सतलोक है वह अब नरेंद्र ने सोचा इसमें भाई तुम्हें कंस्ट्रक्शन करूं अपनी नारी रचना करूं वो दूसरी बार युग तप किया तो सतपुरुष ने पूछा भाई के मांगा वो लोक मांगे थे दे दिए तो उसने सहजदास को बताया क्योंकि सतपुरुष ने अपने पुत्र सहजदास को भेजा कि सहजदास मेरे की को पिताजी से कहो कि मुझे इसमें लोक रचन की सृष्टि रचना की सामग्री दे दे आकाशवाणी हुई कि कहो इसको कि कूरम के पास इसके बड़े भाई के पास सृष्टि की रचना की सामग्री रखी है वो ले आ पर लेना हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर लेगा तो इसकी सृष्टि बढ़िया चालेगी और कोई अकाल मृत्यु दुर्भिक्ष नहीं होगा निरंजन ने पता लग गया कि कोरम के पास सृष्टि बड़े भाई दो रस है चला गया कोरम से पूछा कि मुझे वो लोक रचन की सृष्टि दे दो रचन सामग्री दे दो वो कहने लगा भाई ये तो बहुत कीमती है और पुरुष के पूछे बिना मत दू को ना पिताजी तो पूछू पहला नो बोला भले पुरुष मैं झूठ बोल रहा हूं तेरे थे मेरे पे यकीन नहीं करते आप नो बोला यकीन सौ का सौ लेकिन भाई उनका आदेश भी तो है कि मेरे से बूझ लेना या किसी को दे तो घनी जरूरी चीज से है तो तो दो मिनट बैठ मैं समाधि लाता हूं और पुरुष के चरणों में नमस्कार करता हूं जैसे हम टेलीफोन करते हैं कि मैं टेलीफोन पर पूछ लेता हूँ लेकिन संतों का टेलीफोन समाधि होकर ध्यान मगन होकर उनके चरणों में पहुंच जाना होता है अब ध्यान समाधि का ऐसा झंझट हो सा मन मन समाधि लाग गया छह महीना में वापस हुआ और निरंजन ने बेरा था ज्योत निरंजन ने कि एक बार समाधि लागी मन मन छह महीना उल्टा तू अड़ बाट देखे जागा मुंह बाई उसने जब ध्यान लगाना चाह उसका पकड़ कर मुकट अन्यू अलाव मेरी बात सुन पीछे लगाना समाधि समाधि मैं झूठ बोलू अर्थात ध्यान नहीं लगाने दिया और जो ही उसने मुकुट हाथ लाया मुकुट हाथ में आ गया उस मुकुट में तो ये सारे पहाड़ पृथ्वी ये सब सब अप अपने नौ ग्रह पृथ्वी सात समुद्र या पानी पुनी सारे सूर्य चांद सितारे नौ लाख अपने अपने स्थान पर घूमन लागे अब यहां पर बुद्धि हमारी संकीर्ण हो जाएगी कि यह बनावटी सी बात सा ईसा मुकुट क्यों होगा इसमें ईसा सात समुद्र पहाड़ और पत्थर सब मदर रखे थे गपौड़ पेलना ये उन लोगों के लिए जिन जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है अब वहां पर ये बीज रूप के अंदर थी सारी सृष्टि रचना जैसे बड़ का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है बट वृक्ष और वो उत्पन्न कहां से होता है एक छोटे से बीज थे जो राई का भी से भी छोटा होता है वृक्ष बड़ का बीज और एक बर्मंटा होता है यानी बट का फल बेर जोड़ बेर तो आम देखा बड़ का फल शायद ना देखा हो इतना कोस है और उस मीठी गोली जोड़ है और उसमें का कोई कहे कि इस बट के फल में ये दिखाकर उठे बेर जोड़ और उसमें कहे कि इसमें एक हजार वट वृक्ष है तो ये सामने दिखो और वट वृक्ष मनमाना छावले में भी ताजपुर में भी सारे का घूम जाते उसने आगे बढ़ने की और समय मिल जाते स्थान मिल जाते इतना लंबा चौड़ा फैल जाता है वट वृक्ष अब इतने बड़े वट वृक्ष ने बड़के वृक्ष ने दिखाकर नो का इस फल में एक आधार है ये ऐसे ऐसे तो नादानता सीख रहा है और ज्ञानवान फौरन पकड़ेगा बिल्कुल सही है बीज से बना ये इसी प्रकार ये सारी सृष्टि को इन्होंने सोचा न्यू थी नहीं इससे भी सूक्ष्म बीज है इसका सृष्टि का <clears throat> ये पांच तत्व वहां पर मूल रूप में थे उस कूर्म के मुकुट में और उस मुकुट में ऐसे धरे थे जैसे कोने पर माखी चपका रखी हुई इतने बड़े मुकुट में और बाहर आते हैं ये फैल गए जैसे एक छोटी सी टिकिया होती है बच्चे होली या दिवाली पर उसका अग्नि लगा देते हैं बिल्कुल छोटी सी बटन के समान होती है और वो उसमें फिर नो फो फो कर और इतना बड़ा साफ बन जाए नो और नो घूम जाओ ऐसा मोटा दिखे वो कहां से आ गया उसमें उस टिकिया से उसमें था वो पर दिखे ना था उस अग्नि ने उसका वो आकार प्रज्वलित बना दिया प्रफुल्लित कर दिया इसी प्रकार ये इतना ही व्यंस है इन ब्रह्मंडा का जैसे वो टिकिया तो बना हुआ सांप वो सब बहुत होता हाथ लागते टूटे तो ये सथाई सृष्टि नहीं है <clears throat> ये असथाई है पर समय थोड़ा सा लंबा है इसका असथाई होने का इसका विनाश होने का थोड़ा लंबा समय रखा हुआ है इसलिए हमने असथाई लागे <clears throat> तो जब कोरमता निरंजनता कूदता आया अगला ले दिया अपना काम बन गया डाक ठोकी आ गया वापस उधर से अति कोर में कहने लगा पिताजी प्रस्त है कि निरंजन आया था और बदतमीजी कर गया मेरे संग में और आप एक बार गया दे दो तो मैं उसने घट दू क्योंकि कूरम इस निरंजन तक घनी शक्तिशाली है सतपुरुष कहने लगे भाई देखो तेरा छोटा बाईस है उसकी करनी का डंडोसन उस में लगा आप ना उसको कुछ कहना और बड़ा का इसी में होता है मानता कि उनको माफ कर दे तो वो क्योंकि वो संत आत्मा है <clears throat> उन्होंने स्वीकार कर लिया ठीक है जी जैसे आपकी इच्छा अब भाई चौसठ युग तब फेर किया उसने निरंजन ने <clears throat> क्यों किया <clears throat> कि अब इसमें जीव चाहिए अब ये तो पृथ्वी भी बन गई नौ लाख तारे भी बन गए चांद और सूरज भी हो गए तो अब ये इसका जीव भी चाहिए और बिना जीव के इसका मैं करूंगा क्या इन पहाड़ और पत्थरों का मेरा कहने का मन कोने लग गए अब यहां पर जीव चाहिए चौसठ युग तप के बाद फिर सतपुरुष ने सोचा इसका तो रोज का काम हो गया लाइफ के इसका पक्का प्रबंध करता हूं कैसा किया जैसे बच्चे ने भेजे स्कूल में और पावस नीमे में और कमा तेन तो का मैंने तो कार ले ले दे जब जाऊं कॉलेज में फलाने का थोड़ा कार में जाता है या मोटरसाइकिल ले जब जाऊं कॉलेज में तो वो माता पिता समझ जाता है भी ऊपर है कोई ना बकवाद जहां पा गया अब इसका पक्का काम करते हैं ब्याह कर देते हैं उसने बलो भला के कहेंगे बेटा तो शादी के योग हो गया शादी कर देते हैं तेरी अब शादी का नाम पे एक दो बदना टैगरा बालक फिर स्वीकृति दे दिया कर फिर ब्याह हो जाए ब्याह हुई पाछा वो अपने नून मिर्च में उलझ जाए फिर मात पिता का पीछा छूटे इसी प्रकार सतपुरुष ने इस निरंजन का ब्याह करना चाहा पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं उनका ब्याह और तरीका था उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबद शक्ति थे सतपुरुष ने जिसका नाम आदि माया अष्टंगी आठ भुजा वाली जिसको भवानी भी कहते हैं वो लड़की अपनी सबद शक्ति से बनाई सुंदर शक्ति सुंदर लड़की अब उस लड़की को सैलदास से कहा कि इस लड़की को और नरेंद्र के पास छोड़ के और बता देना कि इसके पास समझ शक्ति है जितने जीव नरेंद्र कहेगा बना देगी अर्थात ये सृष्टि गृहस्थी क्रम नहीं था वहां पर शब्द से सृष्टि रचनी थी जितने जीव कहेगा ये प्रकृति मूल है ये आदि भवानी ये माया है इसके पास बीज रूप में सब जीव दे दिए अब वो जी अब एक भाई ने प्रश्न किया <clears throat> बड़ा जटिल प्रश्न किया <clears throat> के जी फिर हम क्यों फंसे अड़ा के चलो भाई ने तो गलती करिए हम दे क्यों बने यहाँ पर यह समझ में नहीं आती हम हमारे मन में एक गंदी वृत्ति है वो वहीं से पैदा हुई निरंजन करता था तप और हम देखे देखा करते सतलोक में थे हम सभी हम देखते थे उकस उकस नो अकराई तो भाई चाला पाट रहा से चौसठ सत्तर योग हो गए कद के मैं उठता न चालता एक तरफ खड़ा से भाई तो बहुत अच्छी शक्ति दिखे से और आकाशवाणी होती थी तुम तो अपना काम लगे रहो उसको मत देखो नादान को लेकिन हम लुकमा छुपमा यानी इतने आकर्षित हो गए उस निरंजन के प्रति के भाई ये तो चालक आदमी सही तो कसुता है ये तो बहुत कठिन तपस्या कर रहा है भाई इतनी तो सब पतना हुआ है अब यह हमारे माज भी बीमारी से अब कोई भगवान आकर अपना ठीक ठाक बताओ यो काम नो कौन बने नो कर ले और एक तपस्वी हुआ तप करने लग जा सब बदगाम चला जा या वह बीमारी आज से हमारे मनो <clears throat> कबीर साहब ने सतपुरुष ने फिर आकाशवाणी करी तुम अपना उधर मत देखो उनादान की तरफ एक बात न्यू हो जा जो बालक स्कूल में आकर हर मास्टर जानते फिर न्यू देखे बंदी छोड़ बोला ले तारे भी काटू रो गे मानते कोई ना <clears throat> <coughs> उधर से निरंजन से पूछा कि भाई तो तेरे पास कोई जाना चाहते हैं तेने तो पूछ ले प्राणियों को निरंजन ने तो वह पहला बेरा था कि सारे तेरे का नहीं देखे सबसे कहा क्यों भाई तुम वहां चलोगे मेरे पास न्यारा लोक बनावांगे न्यारे वहां पर आनंद से रहा करेंगे तुम्हें सरगुण रूप दूंगा ऐसे करूंगा है और भाई उड़ा मौत मारेंगे तेने बोले हम तो त्यार साहब महाराज जीत कवा दे सतपुरुष तक तो कवा दे हम तो त्यार बैठे हैं नो बोला जी ठीक है ये सारे तैयार बैठे हैं क्यों भाई तुम जाना चाहते हो अखा जी महाराज जी कहते हैं इच्छा रूप पे खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया बंडा लिए उसने निरंजन दिला पावड़ा तेने तो बोला भाई एक काम करियो पर तुम होता लिए सिंगर का तैयार इस गेला पर वहां तुमने दुखी करे ना यू इस सतनाम और सारनाम ने याद रखियो ये हमारे को दे के भेजा था महाराज जी ने कि इस नाम को और मुझे तुम याद रखना जिस दिन तुम ये टेलीफोन मिला दोगे ये नंबर उस दिन मैं थारे पास आ जाऊंगा और उसी समय तुमने इसे ले आऊंगा अग्नि बोला जी पक्का फिर तो हमने दिखता केस है ये सतनाम और सारनामा राजी कदे नहीं बोलेंगे बस ठीक है जाओ तक तो। अब वो बीज रूप में मूल रूप में हमारे को इस माया को दिया प्रकृति को आदि माया को और वो बेजदी सतपुरुष के साथ सतपुरुष ने सहजदास के साथ निरंजन जी के पास निरंजन जी से कहा सहजदास ने किले भाई ये बहन है कन्या और इसके पास सारी शक्ति है जितने जीव तू कहेगा एक बार शब्द तक कहेगी उतने बना देगी और ले छोड़ दी उसके पास और हो अपने लोक में ठाठता ये सतलोक में था ये खेल सारा अब तक सतलोक में ही चल रहा है ये काम उसने क्या हुआ उस लड़की को देखकर निरंजन के मन में खोट पैदा हो गया नीचता आ गई दुष्कर्म की अब ये बीमारी है वो मन रूप में आज निरंजन सब में समावेश है जगह जगह हम देखते हैं बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डला हुआ ये मन जो है ये निरंजन से अब जब चला गया सहजदास रह गया एकला उसी समय उस कन्या की तरफ उसने बुरी दृष्टि की और गंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ लड़की कहने लगी निरंजन जुलम ना कराए तू मेरा भाई और मैं तेरी बान तनीसा जुलम नहीं करना चाहिए और मेरे पास सृष्टि मैं रच दूंगी समझ सकती है मेरे पास तू मान जा लेकिन भाई कौन सुना जब इतनी नीच वृत्ति है इस मन की तो एक भी ना मान्या और कति जब दुष्कर्म पर उतारू हो गया और लड़की को ऐसे अपने बाजुओं में पकड़ना चाहा वह भी तो उस, उससे सब की बेटी थी सूक्ष्म रूप बनाया जो ना दिखे बहुत छोटा और शरीर के माँ निरंजन के पेट में चली गई उसने बेरा के बागी न जान देना और कुछ लोकन का ना उसके पेट में प्रवेश कर गई कि यहाँ ठिकाना पा सकती हूँ अपनी इज्जत बचाने की खातर वहां से पुकार किया कि हे महाराज जी हे पिताजी ऐसे ऐसे नरेंद्र ने मेरे साथ जुल्म किया और इसने मेरे साथ बदतमीजी की है अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण पा रखी है मेरी जान बचाओ सतपुरुष ने सहजदास भेजा कि भाई जा सुन ले मेरी बात उस नकम्मे ने इक्कीस ब्रह्मण समेत यहां तक काट दे ये सतलोक में रहने के काबिल को ना ना मेरा कयान बिगाड़ेगा और इस सतलोक में जो ऐसा जुल्म कर देता है उसको श्राप लग जाता है उसको बीमारी लग जाती है एक लाख जीव रोज खाएगा और सवा लाख पैदा करेगा और यहां नहीं रह सकता अब वहां से उस निरंजन को सहजदास ने आकर कबीर साहब का परवाना सुना दिया अब ले भाई लड़की पेट तकाट तो दी अब तुम दोनों क्योंकि महाराज ने वचनबद्ध होकर या कन्या तिरत दी थी और भाई इसकी सजा ही पाओगा सवा लाख पैदा करेगा एक लाख रोज खाओगा और फिर इनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी सबका और भाई निकल जाए यहां से और दोबारा निरंजन तो इस लोक में नहीं आ सकता अब वहां से निरंजन इक्कीस ब्रह्मण समेत और माई समेत नीचे आ गया सतलोक से सोलह संख को उसकी दूरी पर ये में ब्रह्मंड का आखिरी लोक है तो आखिरी ब्रह्मंड है में ब्रह्मंड का और इसमें आखिरी लोक है पाताल लोक पाताल लोक सतलोक से सोलह संख को उसकी दूरी पे कबीर साहब ने गरीबदास जी ने बताया सोलह संख लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब खरब नील पदम संख तरफ फिर बदनीत करी उसने फिर प्रार्थना करी निरंजन गणा काल पाओगा ये गंदी सृष्टि मत चला मेरे पास एक सबल शक्ति है जितने जीव का मैं बढ़ा दूंगी पर नादान ने महाराज ने लिखा कबीर साहब ने एक नहीं सुनी तो जबरदस्ती शादी करके तीन बच्चे उत्पन्न किए बड़े का नाम ब्रह्मा दूसरे का विष्णु तीसरे का शिव हुआ अब ये सृष्टि जुड़न लागरी सारे शास्त्र सुचारू होंगे और फिर नरेंद्र ने याद आई कि बालक सैने होंगे और भाई फिर सैने हुए पाछे एक लाख जीव मैंने खाने ये मेरे से दुनिया नफरत कराया करेगी हाँ हाँ कार माचे एक लाख परिवार रोज रो में टक्कर मार मर के इस पृथ्वी मंडल पे और हम बाकी राज्य सा जैसे हम कौन मरे ना हमारे बालक मरे और वो मर गए वो कौन से सोच रखा था बेचारा ने उड़ीसा में केन रथ हो गया है और माँ परिवार बच्चे बहन भाई सारे मर गए जायदाद गई ये झूठा सांगला रखे हमारे कालबली ने क्या उन्हें सोच रखा था जैसे हम राजी हुए बैठे हैं और के ऊपर मरना मांड रखा लूट लिया खसोट लिया जोड़ ले धर ले या नादानी है कति शौकी की हमारे अंदर या करी किसने लेकिन फिर नरेंद्र कहने लगा कि माया अब मैं किसी जीवन दर्शन नहीं दूंगा आज के बाद वह बोली एक बात बताओ कि आप तो निराकार हो जाओगे निराकार का तात्पर्य है कि मैं ऐसे लोक में जाऊंगा ना ब्रह्म आ ना विष्णु आ सके ना शिव आ सके इसी कृष्ण ब्रह्मंड के ऐसे लोक में बैठूंगा और ना माता माया तू तो आ सकती तन्ने बोली मैं अकेली इतने इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को क्यों कर चलाऊंगी वो कहता है कि काम तो करूंगा मैं सारे तुम ना तो ब्रह्मा करे ना विष्णु कर सकता ना शिव कर सकता जो करना होगा मैं करूंगा और बाकी पावर मैं तुझे देता हूँ तू करेगी पर मेरा हुक्म तुझ माएगा और तेरा इनमा होगा जब ये बच्चे सियाने हो सागर मंथन पर भेज देना सागर मंथन पर जो वस्तु निकले पहले पहले को दूसरी दूसरे को तीसरी तीसरे को ऐसे दे देना जब बच्चे शरणी हुए वो बोले माँ हमारा पुत्र पिता कौन है अग भाई कोई तुम्हारा पिता नहीं और मैं तुम्हारी माँ मैं तुम्हारा पिता माई ने सोचा कि यदि मैं कहूंगी कि तुम्हारा पिता तो इक्कीसवें ब्रह्मंड में बैठा है मनमा ने जद ला ले माँ पिताजी के पास चलो बच्चे की जद भी माड़ी हुआ कर तो अपने झूठ बोल दी उसने अखबाई तेरा पिता सही कोई ने अपनी जान बचाने या मजबूरियां इतनी हैं ना चाहते हुए जीव ने तेरा ना कित के बोलना पड़ जाए तो उसने ऐसे कह दिया चलो बच्चे थे स्वीकार किया सैने हो गए आकाशवाणी हुई कि सागर मंथन पर भेजो नरेंद्र ने कहा सागर मंथन हुआ वेद निकले चारों वेद ब्रह्मा ने पढ़े उसमें पाया कि सृष्टि का रचने वाला कोई निराकार शक्ति है वो सारे जीवों का पिता है तो उसने अपनी मां से कहा मां तू झूठ बोलती थी कि पिता कोई नहीं मारा इसमें लिख रखा वेदों में न बोली भाई वो तुम्हें दर्शन तो देखो ना लिख लिख रखा अकि योग विधि लिख रखी पाऊंगा दर्शन तक नहीं हो सकती <clears throat> चार योग तक ब्रह्मा ने समाधि लगाई कुछ नहीं पाया और कह के गा था कि दर्शन करके आऊंगा ना तो आऊंगा नहीं तो ठीक से चार युग के बाद <clears throat> आकाशवाणी नंदन की होती है कि माया वो जेठा बेटा कहाँ गया सृष्टि क्यों नहीं रच रही उसने बताया वो तो समाधि लाए बैठे हर ने कहा मैं पता ना ढूंढूंगा उसको कह दे मैं दर्शन कोई ना दू और उसको ला उठा के तो माया ने क्या किया एक लड़की और बनाई जिसका नाम गायत्री रखा कि बेटी जा अपने भाई ने बुला के ला और ऐसे ऐसे चरण छू देना जब वो उठेगा गायत्री ने चरण छू दिए ब्रह्मा की समाधि टूट गई ब्रह्मा शराब देने लगा कि उल्टा तू कौन है और कैसे तुम मेरे तब भंग करने के लिए क्यों आई कहने लगी शराब बाद में देना मेरी बात सुन ले मानव ने जी हूं और ऐसे ऐसे आपने सृष्टि रचनी है आप बिना काम अधूरा है कहता मैं चलता पड़ो पर तो माँ के सामने वचनबद्ध हो गया था <clears throat> उस समय तांडी पाग्या ने बोला जब आऊंगा दर्शन हो गया तो आऊंगा ना कति नहीं आऊं हरी भोरी मुश्किल करके उकर जा तो वह ने बोली उन्होंने <clears throat> बोला तू तो मेरी गवाही दे दी मैं जब चालू तने तो बोली मैं क्यों तेरी झूठी गवाही तू तो यहां पर <clears throat> ऐसी शर्त रखी उस लड़की ने या बताने जोगी भी कोई ना दरमान ने स्वीकार की फिर वो कहती है मैं एक और लड़की बनाती हूं अपना एक गवाह और चाहिए <clears throat> उसने एक पौपोती नाम की कन्या अपनी समझ सकती तो बना दी <clears throat> उस लड़की से कहा कि आप हमारी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हो गए नरेंद्र के वह बोली मैं क्यों दो झूठी गवाही उसने भी ऐसी गलत शर्त रखी वो भी ब्रह्मा ने स्वीकार की तीनवा ना कह और माँ के सामने कह दिया कि हमने पिता के दर्शन इसने पिता के दर्शन हो गए वह बोली रे ढूंढ लिए पिताजी कहा ढूंढ लिए माँ अगवाई क्यों कर मानू मैं कैसे विश्वास करो कि इन दोनों पूछ ले क्यों है तुमने देखा अका हमारी आंखें आगे दर्शन देकर गए नरेंद्र जी और बड़ा सुंदर शरीर था न्यू था गनमान वेद पढ़े रखे थे नौका दिए प्रकाश सा दिखा था झलमल झलमल रही थी अड़े तीन जाने ये सारे के सारे ये योगी भी बस यहीं तक जाने हैं कि बस तेजो में रूप से प्रकाश दिखे से हो गया कटिया टंटा तो वो कहने लगी ऐसे ऐसे दिखा और कतीनों सामने खड़ा था आदमी सा दिखा था वह बोली कि मैं तो मिलती जुलती उसने भी लागे आसार से कुछ तो पढ़ रखे वेदों में वो सुनकर नो क्यों बता दी समाधि से पाया को नहीं चार युग भी ला ली अब तीन घंटे बैठा के बता कौन भगवान दर्शन कराओगा ये बीमारी समझनी है सारी की सारी <clears throat> तो वह मुंह लटका के लो जा बैठी भवानी ने बोली नरेंद्र संभाल अपने डमडमे ने तो झूठा भी नराए वो बोली कैसे कि मुझे कहता है मैं दर्शन ना दू अरे इनको दर्शन दे दिए तने है एक <clears throat> तो दोगला हो गया <clears throat> हर संभाल अपने काम ने बोले आकाशवाणी हुई कि झूठ बोला तीनों के तीनों और मन को ना दर्शन दिए अब आई वाला लाठी लेकर इधर मार वो तीनों कर लिए लाइन में टेडो खड़े हो तुम क्या कह रहे थे तुमने दर्शन हुए और मुझे आकाशवाणी हुई है तुमने कोई दर्शन नहीं हुए अब तीनों आसन लाए गए अकमा तो मानू को था ना भी मैं आऊं क्यों कर सारा लेकर आया था शराब दे दिया ब्रह्मा को कहने लगा न कमे तेरी जग में पूजा नहीं होगी और गायत्री को श्राप दे दिया कि तू तो गऊ बनेगी और तेरे तू जो है ना <clears throat> तेरे सांड पति होंगे कई कई पोपवती को श्राप दे दिया कि तू तो गंदी बूटी गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली गंदी बूटी की जुन्नी पावगी भाग यहां से <clears throat> ब्रह्मा तो बेहोश हो गया और गायत्री जुन्नी छोट गई और आकर के गऊ के रूप जुन्नी धारण कर ली ऐसे पोपवती ने अब क्यों हो गया क्योंकि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे तेरे जैसे ठग होंगे दुनिया ने ठग ठग का झूठी बात बनाया करेंगे शास्त्रों का असली ज्ञान दें ना और अपनी रोजी रोटी बनाओगे वर्मा इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता है <coughs> कहते हैं विष्णु ना कसा राजा भाई तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ सुन तो इतने में आकाशवाणी नरेंद्र ने की के गाय आदि माया तने गलती करी तने श्राप नहीं देना था इनको अब तुझे मैं श्राप देता हूं क्या श्राप देता हूं <clears throat> कि द्वापर युग में तो द्रौपदी बनेगी तेरे पांच पति होंगे ये कबीर साहब की बाणी सुना रहा हूं आपको जिसने ए बी सी गिना दिया स्थाना दाना शास्त्रों का <clears throat> माया बोली निरंजन त्रिमोद तेरे बस आगे कुछ भी कर ले कि मैं करूं हूं जब तुम कर नहीं देता ये बिना दमकाए बालक मानने क्यों करे अभी नौट झूठ बोल दी इसको स्वीकार कैसे करूं मैं <clears throat> ठीक है तेरी मौज कुछ दिनों के बाद आ अब माया बोली विष्णु ने कि भाई बेटा उरे ना तू काम आ कि अब तुम भी ढूंढ लिया अपने पिता ने कदे फिर बीच में समाधि लाला बैठो सृष्टि कर्म ने भंग डालो अक अच्छा माता जी शेष वो भगवान विष्णु जो है अक्षीर समुद्र में आ गया वहां पर शेष नाग के लोक में पहुंच गया उस लोक में जाकर शेष नाग ने देखा को तुरु की अब तेरी जुरिडिक्शन में तेरी सीमा पर आ कैसे गया ये एकदम एक हजार मुंह फनों से दुम्मा छोड़ दिया जैसे जहर का और विष्णु उस्मान जी सिंह दिखा को नहीं विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया अब विष्णु जी ने सोचा ला इस कीड़े की गर्दन दाब दू इसने बड़ा कोई मतलब हुई बिना काम के मेरा शरीर ऐसा गंदा शरीर कर दिया तो आकाशवाणी करी निरंजन ने के विष्णु जाकर अपनी मां ने साफ साफ बता दे और इसको अब मत मारना इसका बदला तो द्वापर युग में लेना जब तू कृष्ण बनकर जाएगा अब इसको कुछ नहीं कहना अरे नो लड़ जड़ मरोगे तो यहाँ सृष्टि कौन रचेगा वापस जा और अपनी माँ को साची बता दे मैं दर्शन को अनु नहीं तो तेरा ब्रह्मा वाली हालत हो जाएगी अब विष्णु जी आकर अपनी माँ के चरणों में आठ बुझा वाली के जगदम्बिका के चरणों में पड़ कहने बोला माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए और ना ही हो रहे हैं ठीक है बेटा तू सतवादी होगा तूने साची बोली है तेरी जग में पूजा होगी सृष्टि पालन का काम मैं तुझे देती हूँ फिर बुलाए शिव जी के ले बेटा तू भी ढूंढ अपने पिता ने कहते फिर पाछे समाधि लाए बैठा रहे वो कहने लगा माँ जब मेरे दो भाइयों को नहीं मिले पिताजी तो मैं तो कोशिश को नहीं करता मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं मरूं कौन है बेटा ये काम यहां नहीं हो सकता जो उपजा है वो मरेगा और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य है इस इक्कीस ब्रह्मंड मत यो बचा नहीं बाकी मैं तुझे एक विधि बताती हूं कि तेरी आयु सब तो बड़ी हो जाएगी सबसे दीर्घ आयु होगी तेरी अकमा यह बता दे उसने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर समाधि में रहा कर और अपने प्राणों को दसवें द्वार पर रखा कर तेरी लंबी आयु हो जाएगी और ऐसे ठंडे क्षेत्र में रहना शिव जी ने आप देखते हो ज्यादातर समाधि में रहता है अब ठीक है माता जी उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि इनको इनका ब्याह कर दे सृष्टि चला माता ने कहा कि जाओ बेटा तुम फिर सागर मंथन करो यहां पर लिखा है कि माता ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो तीनों के तीनों मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और बच्चे पैदा करो अब तीनों के तीनों <clears throat> नाराज हो गए कहने लगे माँ तो जमाई न कमी निकली या क्या बात कही आपने माता नार पुत्र की होई ये जननी ये कहा आग धोई इस महापाप ने कि दो आगे तो वहां पर कहते हैं वह माया अपना बदल गई सारे खेलना ने बोली बेटा मैं तो मासी करो थी ना थरी गेला अब देखोगे थरे में कितना गुण और ज्ञान है अच्छा बेटा तुम ऐसे करो सागर मंथन करो अपने तीन रूप बनाए इस माई ने और गुप्त रूप में समुद्र में प्रवेश होगी एक सिद्धि बहु चोल्य धारा है एक सिद्धि बहु धारा है नारे नारे रूप बना ले एक सिद्धि होती है सागर मंथन हुआ तीन लड़कियां निकली नंबर वाइज तीनों को लेकर घर आ गए अर्नो कहा था बेटा नारी नारी याद रखना कौन सी पहले कौन सी दूसरे कौन सी तीसरे चीज निकला वह साथ ले आना कहने लगे माँ ये पहले निकली ये दूसरे निकली ये तीसरे निकली बड़ी का नाम सावित्री <clears throat> बर्मा से ब्याह कर दिया दूसरी का नाम लक्ष्मी विष्णु तो ब्याह दी और तीसरी का नाम उमा रखा वो शिव तो ब्याह दी अब बेटा तुम अपना <clears throat> अपना अपना घर बसाओ अब यहां से इस मृत लोक की सृष्टि शुरू होती है अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार <coughs> अब सुर और असुर इन्हीं से उत्पन्न हुए नकम्मा बालक हो गया वो राक्षस कहलाया और जो अच्छे निकले उनको देव कहा उसके बाद ये सृष्टि यहाँ की शुरू होती है <coughs> अब यहाँ पर गरीबदास महाराज की वाणी सुनाता हूँ आपको 21 ब्रह्मांड को लेकर चला अब गलती तो आदमी कर दे से एक बार फिर पाछा बहुत पछतावा से अब इसने सोचा चाड़ा पाट गया अब किसी प्रकार माफी मांग लू लेकिन माफी दे कौन रास्ते में जब आ रहा था इक्कीस ब्रह्मंड के साथ जब वो चल रहा था उसका विमान रास्ते में सहज दास जो उनके बड़े भाई हैं उनसे बड़े जिसको सहजदास के रूप में कबीर साहब भी यहाँ पर आते हैं सहजदास के दीप में आ जाता है इनका विमान रास्ते में पड़ता है वहां आकर सहजदास से वहीं से प्रार्थना करता है निरंजन कि सहजदास मेरे को अपने लोक में रख ले नीचा ना जान दे न बोला भाई देख भगवान पिताजी का आदेश है और भाई इसको मैं कैसे मोड़ सकता हूं उसका मन राजी करना चाहिए कदे नाराज ना हो जाए क्यों पहले बहुत कालीमान रस है इसको ठेस ना पहुंचे न्यू बोला भाई मैं एक बार पिताजी तो पूछ लेता हूं उन बच्चों को आराम से बैठे आराम से बैठो कि मैं पिताजी से पूछ लेता हूं और फिर तेरे दाद ने रोक लूंगा उन्हें सोची मैं अपने सिर पर कह लू पिताजी कह देंगे तेरा रुक जाएगा मन के भीड़ से यहां पर नोबला मैं अपनी समाधि लाकर सतपुरुष के पास पहुंचा और पूछा महाराज जी वो निरंजन फिर प्रार्थना करे से आप बताओ कहाँ रखो उसने न बोला उसने यहां से कति निकाल दे और खबरदार जब उसको यहाँ रखा था तीन तलाक उसको नहीं रखना यहाँ पे और नीचे मृत विषय विकारों के लोक में भेज दे इसको विषय लोक कहते आज रामायण गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहब की वाणी छह सौ नब्बे पृष्ठ पे है आज रमेणी आज रमेणी अदली सारा जादन होते धूंधू कारा सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया धर्म राय सिरजे दरबानी चौसठ युग तब सेवा ठानी पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी ब्रह्मंड इक्कीस राज तुम दीना मन की इच्छा सब जग लीना माया मूल रूप एक छाजा मोह लिया जिन हूं जिन हूं धर्म राजा माया मूल रूप एक छाजा मोह लिए हूं धर्म राजा मन का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा धर्म राय क्या मन का भागी विषय वासना मन संग से जागी आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्म राय दिया जल से त्यागी परमात्मा सतपुरुष ने आदि पुरुष ने धर्मराज को निरंजन को धर्म राय को जल त्याग दिया अर्थात दिल से उतार दिया कति कैसे न कमे न तो यहाँ रहने को जो जिसने ईसा जुलम कर दिया अपनी बहन को ही और बदनीत से देखा धर्मरा किया मन का पागी विस भागी विषय वासना संग से जागी आद पुरुष अजली अनुरागी धर्मराय दिया जल से त्यागी पुरुष लोक से दिया ढाई ढाक रहे ना नुकत धक्का दे दिया जैसे नाराज सा हो गए पुरुष लोक से दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई इक्कीस ब्रह्मण समेत अगम दीप यानी जो सहज उससे अगले लोक में आ गए दीप में आ गए सहज दास जिस जीप रहनता सहज दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा अब वहां से आवाज करी ना जब उसने कि भाई सहज दास मुझे यहां रोक ले सहज दास बावला सा बनकर भाई कौन है तू के बात बादशाह ज्ञान तो सारा था उन्हें धर्म पुरुष लोग ते दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई सहजदास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा धर्म राय बोले दरबानी सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी चौसठ जुग हम सेवा किन्नी पुरुष पृथ्वी को जीनी चंचल रूप बया मन बोरा मन मोहनी ठगिया घोरा मेरा मन चंचल रूप बन गया और वह मन आदानी कर गया और उसकी सजा मुझे ऐसी भयंकर मिल गई अब मैंने बचा तुम तो। सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए क्योंकि सतलोक सतपुरुष के मन में नहीं रहे हम नहीं भाए और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया <clears throat> अगर दीप सुनत बड़ भागी सहजदास में तो मन पागी बोले साज सहजदास दिलदानी हम तो चाकर सद सैदानी सतपुरुष से अर्ध गुजारू जब रहा भी मान उतारू सहजदास ने बोला भाई पहला सतपुरुष से पूछू प्रार्थना करो और पिताजी कहें तो यहाँ रुकण दो ना को ना रुकण दो नहीं तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना अब समाधि लाकर और सत सहजदास पिताजी के लोग सतपुर सतलोक में पहुंच गए अपने दीप से उस लोक में पहुंच गए और वहां प्रार्थना करते हैं सतपुर साहब सरबंगी अवगत अतली अतल अभंगी धर्मराय तुम राधर बनी अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा ने बोला जी और धर्मराज फिर प्रार्थना करा धर्मराय और आप कहो बताओ कित भेजो हो सकता है उसने भी नहीं सोची महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले सतपुरुष इसने कम्य की गलती पे लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यू यहाँ रह गया ना और विनय को बाड़े करेगा ने बोलिया भाई आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय नौका कति नहीं भाई एक प्रतिशत भी गुंजाइश नहीं उसके बारे में दोबारा अर्ज मत कर दिए हुई आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा दिनु वाचा सहज विमान चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई सहजदास वापस आ गया अपने लोक में आकर हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई ना अरे यहाँ तो तू निकल जा पिताजी कति करड़े नाराज हो रहे से और वह जमा नहीं सुनते तेरे बारे में धर्मराय बोल चले विमान नाम मान सरोवर हाँ। सहजदास चले अधिक चले अधिकारी छिन्न में अग्रदीप चल आई हम तो अर्ज करी अनुरागी ही तुम विषय लोक जाओ बड़भागी के भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी भाई मन मत ना टोके दोबारा साहब कर डे नाराज हो रहे से और मन भी खतरा हो जाएगा अब कौन आप मन ले गड़ मंगा ला चल भाई धर्मराय के चले विमान मान सरोवर आए प्राणा मानसरोवर रहन ना पाए द्रह कबीरा था ना लाए वहां सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहां आखिर के उस औगट घाटी पे बैठा है बिखमी बाट पे बघाटी में बंकनाल की बिखमी बाटी तहा कबीरा रोकी घाटी इन पांचों मिल जगत बंधाना लग चौरासी जीव सताना होए होए इन पांचा ने मिलकर जगत बांध रखा है कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज बिठाया निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश नरिश माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर जमटा गाड़ रखा है इन पांचों मिल <clears throat> इन पांचों मिल जगत बंधाना लख चौरासी जीव सताना कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज्य ई गोले पड़न लाग जा सारे के सिर फूटे बता के रहे हमसे हमारे ऊपर बाज के कि तक कौन पकड़ गया तो पकड़ गया ना इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए और बारिश हो जाए तो भिजो परले आगे मरो सारे के सारे क्या मरते कोई ना परले इसी बूंदी फ्लड आती है और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ टकराओ मर जाओ त्याट से एक लाख रोज पूरे करने <clears throat> लग चौरासी में जीव सताना है कुत्ते टांग टूटे खाज लागे कड़ में जख्म हो जा सिर में जख्म हो जा कीड़े पड़ जाए हैं टक्कर मारता अंडा पागल हो जा फिर उन लठा मारे ये जीव ये वो पहले मनुष्य शरीर में भी था अब ये जीव ये हालत करा किस इस ज्योत न मारी पर यह समझ में आने आने वाली बात सजे आ जा तो बेड़ा पार से भाई इधर मुंह भी ना करना जिक्र इंसान का रड़ किले बनावा महल बनावा कोठी ब कोठी बनावा क्या की खातर और सांध ने पता लगे हो उसका तो हार्ट अटैक वगैरह गया भाई अब बांध ले गया गठड़ी कर्म खोटे कर चला कुत्ता बनकर कोठी की छाम बैठा बार लगा ना आके अब दरले सर पर उसको ने रसमाया ने ये बात समझ में नहीं आती यह पाछड़ छुटकारा जीव चाव है यो खापुर की जूठी बाजी विश्व कुंड तगासी साजी ये खोखापुर 21 ब्रह्मंड कति नकली कति जूठे और सौ के सौ बेकार आज मैं कितना सुंदर शरीर प्राप्त बारह बच्चे और कारर कोठी और ई मर जाऊं बता कि खोखापुर है क्यों आयो बता इसमें है क्या हमारे पास ही सौदा यो खोखापुर जूठी बाजी विश्व बेकुंठ दगासी साजी हमने स्वर्ग से नाथाज ताई और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाने थे और स्वर्ग में के है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गेला यहाँ पुन कट्ठे करे स्वर्ग में जावा आई ओ हो हो मौज मोगी और वहां के ला बेटा कितने ले रहा से अड़ा जमा करा दे सारी या या कमाई संतों की जैसे होटल में चला गया दस हजार रुपये लेकर <clears throat> वो कहेंगे दस हजार तो पांच हजार तो पहला जमा करा और बाकी फिर फिर ऑर्डर देना था तो कितने दिन रहना चाहता है यहाँ पे और जब वो पांच हजार खत्म होना होंगे ना पांच हजार और जमा करा अरे मांग जो मांगे वही मिलेगा सारा ठाट काट तो ये स्वर्ग है वो पुण्य जानते जमा करा लेंगे उस स्वर्ग में और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पे और तेरी मर्जी कुछ भी खा लेकिन वो सीमित डाइट है वहां की इस डाइट के आधार पर खावेगा तो इतने दिन रहेगा और आज खाएगा तो जल्दी छुट्टी होगी गया मौज मार वहां पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में अप्सराएं नाचे वहां पर मदरा पीवे और सारा दिन बकवाद बावे उन देवतार स्वरूप कहते हैं और पुन खत्म हो ना पकड़ का टीटवी देव शरीर समाप्त नरक में ठोक दिया नरक भोग क्यों पाप भी गिला बड़े जैसे कर्म प्राणी करेगा यहां पर दोनों भोगे हैं पुन के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक ओखा और फिर चौरासी का गेड़ा यू भी न्यू का न्यू यो भी नहीं बचता कोई ना सोचते यो भी कट जा <clears throat> यो यो भी एक ऐसे क्रम निर्धारित करा के उस निर्धन के हाथ में सही हो सारा सौदा उसका कानून कर काड़े कुछ भी बनावे कि भाई चौरासी भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी और फिर मनुष्य नहीं बनेगा अब बंदी छोड़कर इसे बुंडे को क्रम में अरे भगवान मान रहे तुम ज्योति निरंजन को कवि साहब कहते हैं <clears throat> जो यम को करता भाख है और तज सुधा यम विष के चाक है जो इस काल निरंजन ने ज्योत तो निरंजन भी भगवान मानते हैं वो तो अमृत छोड़कर जहर खा रहे ये प्रमाण दिया कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने <coughs> ये पर झूठी बाजी विश्व में कुंड दगासी साजी कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई अपना निज घर है सतलोक जहां पर आप जाओगे आप एक सुंदर शरीर होगा फिर मरे को नहीं अब यहां कोई मरना नहीं चाहता और सब न मरना एक के दोनों हाथ कट रहे और वो भी पैरों तक काम ले रोटी खान कार सारा वो भी मरना नहीं चाहता एक कोट लाग रहा तड़फ है एक हाथ भी कोई ना वो भी नो जीवन की आस है ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहां जीव मरते को ना और वह कसकब भी है हमारे अंदर ये ज्ञान होते हुए कि हम मरना है फिर भी मरना नहीं चाहते क्योंकि हम ऐसे लोक में गणित रह रहे हैं कि वहां प्राणी मरते कोई ना वहां पर सुंदर शरीर मिलता है तेज पुंज का शरीर होता है इसलिए हम नहीं मरना चाहते लेकिन या तो मरे पांडा छुट्टेगा छुट्टे भी कोई ना ना फिर लंबा गेड़ा कृत्रिम कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है आज मनुष्य कल गधे बना देगा वो कृत्रिम बनावटी हो गए कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई सवा लाख उपजैनित हंसा सवा लाख उपजैनित हंसा और एक लाख बिन सैनित अंशा एक लाख रोज खावे सवा लाख पैदा करे अब ये और समस्या क्यों बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है या समझ में नहीं आती जो कहेंगे खावे क्या न शरीर तो यहां रह गया बता और जीव अमर बताते हैं ये भी नहीं जच रही बात एक भाई प्रश्न किया हमारे से उन्हीं के उत्तर बताता हूं अब ये खोखा है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कवल्य शरीर महाकारण शरीर और फिर जीवात्मा बंद कर रखी और आत्मा और इसका जीव बनाया उस सूक्ष्म शरीर को इस इसमें अपनी कारीगरी थे माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में इसने चटपटी तो सब्जी चाहिए और दारू और मुर्गा खावे और बीड़ी पीवे सुल्फा खेचे और गंदी दृष्टि रखे व्यसन करे विलास करे और उसके द्वारा जो वासना होती है उस वासना को इस स्वतंत्र शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले है और ये शरीर तो खोखा अमरोहा इसने तो वायुवान मर जाता है और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर एक लाख जीवों को तपत तपस्या के ऊपर गर्म करे इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाते हैं वहां पे एक लाख प्राणी और फिर उनके ऊपर जो जमी हुई वह वा गंदी वासना वासना और बहुत बारीक होती है मैक जिसने कहे और इतनी गर्म करता है कि तो मरता नहीं जीव अमर तो जरूर है पर गधा बन गया कुत्ता बन गया वहां दुर्ग दुख पा रहा है के अमर होया फिर यो <clears throat> तो वह वासना जब निकल जाती है ऐटोमेटिक ऐसा ऐसी झटका देता है सिद्धि से और सब जीव ब्रह्मंडमा का होते हुए ठंडे हो जाते हैं और उन जब सो दिया जब लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का आगे लेखा जोखा करान के लिए एक भगत के सिर में चोट लागी एड होगी एक महीने में सो दिमाई दूसरे जो बिना बेरात्रे गिल के होया था उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में जा था स्कूटर पर था बस गेला टकरा गई थी तेरी और तेरा सिर फूट गया था उसने फिर हाथ ला के देखा और टाके टूके लाए जब रब मेरा तो कुछ भी याद कर इसी प्रकार जब तपस्या पे इसको इतना गर्म कर दिया इसने न्योना विरा में पाछा किए था हमें किसी को याद नहीं हम क्या थे और कहाँ जाएंगे ये सारा खेल इस काल भगवान निरंजन का है अब पुराण में आप सुन रहे थे उस काल में प्रेरणा विष्णु के सृष्टि रच मानते हैं सारे शास्त्र काल है पर काल का वेरा और गीता जी में स्वयं वो निरंजन उस कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है फिर बिना समझ माई और कहता मैं महाकाल हूं और सब न खाऊंगा गीता जी साहब कह नागरी अर्जुन डर गया फिर कल आपको गीता जी भी सुनाएंगे <coughs> सवा लाख उपजे नित हंसा एक लाख विन सैनित हंसा उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी हर्ष शोक जो राजम जेरी पांचों है प्रलय माही सतगुण रजगुण तमगुण झाई सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा और तम गुण शिव ये भी नौका प्रलय में से पांचों तत्व भी और तीनों गुण भी नाशवान से ये भी नष्ट हो गए और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने उसमें भी ये कह रखा है कि ये रजगुण तम गुण सदगुण सब नाश में हो जाएंगे नाश होंगे आठों अंग मिली है माया पिंड ब्रह्मंड ये सकल वर्माया या मैं सुरत शब्द की डोरी पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी इसमत भाई सुरत और शब्द और सतनाम सतनाम का ऊपर या सुरत और शब्द यानी हमारा उस शब्द से संपर्क हो है। सार नाम थे तो सार शब्द से तो तब पीछा छूटे ना और कोई रास्ता नहीं यहां से बचने का श्वासा पारस मन गए राखो खोल कपाट अमीर चाख